if we can think of the melodious bhajans all the time. In this trash world, in this harsh world, if we can hear Purushottamji's bhajans all the time, they will always make you live with the Lord. Thank you, Purushottamji, for giving me chance to glorify you, though my mouth is not so great, but on this day I would like to offer my hundreds of obeisances to you because you have kindled some devotion in my heart and many people who will still come to this mardasana for listening. They will always hankered to listen you in person, but uh, they will always hear you eternally, very deeply. With this, I pay my obeisances. Hare Krishna. And you can always remember his wonderful narrations of the holy mantra which used to sing at the culmination of every concert.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 Thank you very much. Hare Krishna. सुप्रसिद्ध गीतकार संगीतकार और गायक रविंद्र जैन साहब से निवेदन है बंद हो जाएंगे इस पूरे महानगर में जनता जी ने मिलकर पर सदैव अकारण कृपा बरसाए तो वे एक ऐसे मेरे आशीर्वाद देने वालों में और मुझे मेरा मूल नाम रबो कहकर बुलाने वालों में एकमात्र थे पुरुषोत्तम जी का सबसे पहले दर्शन अलीगढ़ में जब मैं आठ या नौ साल का था अलीगढ़ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उनके दर्शन का सौभाग्य मिला फाइनली हम बॉम्बे में रहते रहे और हमेशा ही उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया आशीर्वाद भी दिया दोस्तों कुछ छोटी सी टूटी फूटी जली जो मेरी विनती है पुरुषोत्तम जी जी साहब से के स्वीकार करें श्रद्धांजलि के रूप में हरि का एक नाम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम के दास जलोटा हरि का पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम के दास जलोटा आत्म राम में राम रमा कर हुए राम के खास जलोटा आत्म राम रस जलोटा ऐसी छाई मौत की बदली निद्रा चिर निद्रा में बदली ऐसी छाई मौत की बदली निद्रा चिर निद्रा में बदली के संग किया छलावा सोए के संग किया छलावा अंतिम श्वास आखिरी पल का कर न सके आभास जलोता अंतिम श्वास आखिरी पल का सके आभास जलोटा हरि का एक नाम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम के दास जलोटा भजन जगत को भूप दे गए स्वर्ण जग को रत्न अनूप दे गए जग को रत्न अनूप दे गए एक जलोता पास है प्रभु के एक हमारे पास जलोता हरि है नाम एक पुरुषोत्तम का यशोतम के दास जनोटा लोग भले ही मृत्यु कहे पर हम तो ध्यान समाधि कहेंगे ध्यानेश्वर ज्ञानेश्वर शिवर मानस पट पर सदा रहेंगे रब से प्रार्थना है सबकी उन पर खास मेहर हो रब की परम पिता के परम धाम में शाश्वत करें निवास जलोटा आतम राम में राम रमा कर गए राम के पास से थैंक यू श्रीमती कमला जलोटा अनिल और अर्चना अनु और मेधा अजय और फाल्गुनी अनिका और महेश अंजलि और राकेश और बच्चों में श्रुति अमिषा आर्यमन ऐशा अमानी मधुर हर्षित सिद्धार्थ श्रिया और पड़पोता कबीर इन सब की तरफ से मैं अंत में पारिवारिक रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए महेश मेहरा जी को बुला रहा हूं देवी और सज्जनों आप सब किसी न किसी रूप में पापा जी श्री पुरुषोत्तम नाजरुका जी से जुड़े हैं श्रोता के रूप में या शिष्य के रूप में चौमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व श्री पुरुषोत्तम दास रोटा के साथ मैं उनके दामाद के रूप में जुड़ा और जीवन में जो भी उनसे पाया उसकी बहुत लंबी फहरिस्त है लेकिन उनके लिए चार लाइनों के, के रूप में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं बीते हुए कल को बीते हुए कल को ला सकते नहीं आज बीते हुए कल को ला सकते नहीं आज पर बीते हुए पल को भुला सकते नहीं आप पर बीते हुए पल को भुला सकते नहीं आप बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है पर बीता हुआ पल सुहानी याद सा ढल जाता है पर बीता हुआ पल सुहानी याद से ढल जाता है श्रद्धांजलि पापा जी जलोटा जी को दे रहे हैं आज श्रद्धांजलि पापा जी जलोटा जी को दे रहे हैं आज जो कल थे जो आज हैं जो पल पल रहेंगे साथ जो कल थे जो आज है जो पल पल रहेंगे साथ पर श्रद्धांजलि देने को कुछ शब्द नहीं है पर श्रद्धांजलि देने को कुछ शब्द नहीं है सूरज के सामने दिए से प्रतीत हम सूरज के सामने दिए से प्रतीत हम पर फिर भी जुटा के हिम्मत कह रहा हूं आज फिर भी जुटा के हिम्मत यह कह रहा हूं आज ले लो जीवन से इनके ले लो जो भी मिले आज ले लो जीवन से इनके ले लो जो भी मिले आज आज कह रहा हूं किस लिए मैं आज आज कह रहा हूं मैं किस लिए आज क्योंकि बीते हुए कल को ला सकते नहीं आज क्योंकि बीते हुए कल को ला सकते नहीं आज धन्यवाद अनूप जलोटा जी को मैं मंच पर बुला रहा हूं और इस बीच ओम व्यास जी माइक पर आ रहे हैं अनूप जलोटा जी कृपया मंच पर आए भक्ति संगीत जगत के महानायक ज्योतिर्मय मर्यादा पुरुषोत्तम बाबूजी एवं मेरे प्राचीर स्मरणीय गुरुवर परम आदरणीय पद्मश्री श्री पुरुषोत्तम दास जी जलोटा की अश्रु भरी एवं प्रेममय बाबूजी की याद में एक काव्यांजलि पेश कर रहा हूँ या तुम्हारी आती है बस या तुम्हारी आती है याद बाबू जी की आती है बस याद बाबू जी की आती है इस घर का आंगन कहता है हम बच बच्चों का मन कहता है याद बाबू जी की आती है याद बाबू जी की आती है बस याद बाबू जी की आती है सुरताल भी सब सुने हैं सरगम भी गम में डूबी है जो कला की खूबी आप में थी शिष्यों में अब वो मिलती है संसार बदलने वाले बस याद बाबू जी की आती है याद बाबू जी की आती है बस याद बाबू जी की आती है माँ कमला जी में रूप तेरा अनुप जिम छवि तेरी पाते हैं संगीत सिखाया अनुप जी